प्रभु के वचन सिसधर सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता लक्ष्मण हो, हो धर्म के ने पावक प्रगट करहु तुम बेगी लमणी का विरह विवेक धरमनि तिशारि लोचन सजल जोरि कर दो प्रभु सन कछु कहे सकतन वो प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते देखि राम रुख लक्ष्मण पावक प्रगटे काठ बहुलाए पावक प्रबल देखि दे हृदय हरसनहि भहि मन बच क्रम मम उरमाहे तज तो तजीरभुवीर सब सब शक्रुस जाय जना कहु श्री समा फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ सीता जी ने लीला से कहा यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं मेरे भी मन की गति जानकर मेरे मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सो मेरे प्रभु मैथिली जय कौशले समहे सबंदित चरण रति यति निर्मली प्रतिबिम्बयरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे प्रभु चरित काहुन लखे सुर सिद्ध मुनि देख खरे प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं धरी रूप पावक पान गहि श्री सत्यश्रुति जग विदितजो दिमक्षेर सागर इन्दिरा रामहि समर्पे आनि सो तो राम विभाग राजति रुचिरजति शोभालि नवनील निकट मानहु कनक पंकज की कली तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो बरसहि सुमन हरसि सुर गगन निशान गावहि किन्नर सुरबधो नाचहि चढ़े विमान जनक सुता समेत प्रभु शोभायमित पार देख भानु कपिहर से जय रघुपति सुख सार देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे आकाश में डंके बजने लगे किन्नर गाने लगे विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे